एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके चल करके गारंटीड सक्सेस है अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे जीत लोगे अरे जो सोए हुए हो डरे हुए हो बैठे हुए हो उठो अरे हो आगे बढ़ो सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर एक दिन के अंदर अंदर मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर लीडर्स खड़े कर मान लिया हजार वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना तो बड़े से बड़ा चूज करो ना बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा मिलेगा भाई इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते खिलाड़ी तो बनो खिलाड़ी तो बनो अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है और जब हम उन चीजों की तरह देखते हैं जो हमारे पास में है उस मूवमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है जो कर्म आपको अंदर से स्ट्रांग करता है वो अच्छा कर्म है जो अंदर से आपको वीक करता है कमजोर करता है वो सब पूरे कर वो सब पूरे कर रहे अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे कैसे पूरे करोगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है खुद की नजरों में उठना है जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया तो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा जो तो मैं करना चाहता हूं चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो कितना भी दर्द क्यों ना हो उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो दिल से करना चाहते हो उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो जिसका डिजायर जितना बड़ा है बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है उतनी ही बड़ी है चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ में जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई आगे मेरा टाइम गया आपका टाइम शुरू आपका टाइम शुरू